उसमें प्रमाण क्या है ईश्वर में सत्य प्रकृति के लिए प्रमाण पूछा शास्त्र का प्रमाण कर दिया शास्त्र पूर्ण मुख्य मंत्र कहाँ चला होगा शुक्र कृष्ण कहाँ से शुरू से सत्य शास्त्र निमित्तम ये पूछा गया ईश्वर में सत्य उत्कर्ष है इसमें वो क्या प्रमाण का है अथा निष्प्रमाण है उत्तर दिया सत्य शास्त्र निमित्तम श्रुति स्मृति इतिहास पुराणानी शास्त्र श्रुति स्मृति इतिहास पुराण ये शास्त्र है निमित्त का तो प्रमाण तरह में सत्योत्कर्ष का प्रमाण है उसके ऊपर पूछते चौदह शास्त्र पुनः किन निमित्तम किन निमित्तम समास इसमें है या एक पद है दो पद तीन मिनट का एक पद क्या समास है हम्म। कैसे दिख रहा होगा सह निमित जैसे कस्य कह निमित्त ऐसे होगा ना कहा निमित्त कहते हैं निमित्त निमित्त नतुन सभी किम निमित्तम यस्य कह कारण किम निमित्तम यश शास्त्र से शास्त्र किम निमित्तम निमित्त उसका शास्त्र में क्या निमित्त क्या है उसका उसको उत्तर दिया प्रकृष्ट सत्य निमित्तम प्रकृष्ट सत्य के कारण शास्त्र होना ठीक है ना प्रत्यक्षानुमान पूर्वी शास्त्र शास्त्र होता है शब्द प्रमाण शब्द प्रमाण जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसके पहले किसी प्रमाण के ज्ञान होने पर शब्द प्रयोग होता है बुद्ध शब्दानुक्रम से कोई शब्द प्रयोग करता है उसके पहले वस्तु का ज्ञान हुआ ज्ञान अन्य प्रमाण से होने के बाद शब्द प्रयोग हुआ यदि शब्द से सुनकर कहता है वो शब्द जहाँ से सुना वो जिससे सुना प्रथम किसी को प्रत्यक्ष अनुमान से ज्ञान हुआ तब शब्द प्रयोग करेगा ये तीन प्रमाण मानते प्रत्यक्ष अनुमान आगमन तो शब्द प्रमाण के पहले प्रत्यक्ष तो अनुमान प्रत्यक्ष अनुमान पूर्वे पूर्व प्रत्यक्ष अनुमान से प्रत्यक्ष अनुमान पूर्वे व्यक्ति किसके पहले प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण से अर्थ निश्चय होने के पश्चात ही शब्द प्रयोग होता है शास्त्र प्रमाण है और इस तरह का वाक्य प्रमाण होगा उसके पहले यदि इस तरह हो प्रत्यक्ष ज्ञान हो अनुमान ज्ञान हो न तो इस तरह से सप्त प्रकट से कथ्यचित प्रत्यक्षम अनुमान रहा यहाँ प्रश्न है तरह में सत्य प्रकट है इसमें क्या प्रमाण है शास्त्र प्रमाण कहा था तो शास्त्र से प्रमाण होने के लिए शास्त्र के पहले कोई प्रत्यक्ष अनुमान हो ईश्वर में सत्वगुण प्रकट है रजगुण तमुगुण अति कम होगा सत्वगुण अधिक होता है ईश्वर में सत्व प्रकट है करके इसमें किसी को प्रत्यक्ष होगा अनुमान हुआ है ईश्वर का सत्वगुण प्रकट है तद विषय के प्रत्यक्ष अनुमान हुआ प्रत्यक्ष इतना किसी को नहीं होता है न तो ईश्वर प्रत्यक्ष प्रभाव शास्त्र में चिंतन ईश्वर को प्रत्यक्ष हुआ उससे हुआ शास्त्र कहीं ईश्वर प्रत्यक्ष हमको प्रत्यक्ष नहीं होते ईश्वर को प्रत्यक्ष ईश्वर प्रत्यक्ष प्रभवम प्रत्यक्ष से उत्पन्न होता है शास्त्र तो शास्त्र प्रमाण हो जाएगा ईश्वर प्रत्यक्ष होने के बाद शास्त्र हुआ तो शास्त्र प्रमाण होगा तो शास्त्र में ईश्वर सत्व प्रकट शास्त्र में कहा गया शास्त्र में कहा गया ईश्वर सत्य प्रकट है ईश्वर का सत्य प्रकट है इसमें शास्त्र प्रमाण हुआ और शास्त्र फिर प्रमाण क्यों होगा क्योंकि ईश्वर प्रत्यक्ष उत्पन्न हुआ इसे न समिति ठीक नहीं कल्पिकात ही अयम स्वयं आत्म आत्मेश्वर्य प्रकाश में है यदि भाव शंका करने वाला कहता है प्रत्यक्ष पूर्व कोई न करके इसे कल्पना करके कुछ ना कुछ कर देता है सबसे अपने जो तो बड़ा स्थापन करने के लिए आत्मा ऐश्वर्य प्रकाशना है अपने ऐश्वर्य को प्रकट करने के लिए कुछ ना कुछ कल्पना करके कर सकता है लोग एक कुछ कल्पना करके कथा बना कर कह देते हैं यहाँ पर हिमालय में जो बद्रीनाथ गंगोत्री उत्तरकाशी के जाओ कुछ कुछ लोग ऐसी बात बनाएंगे सिद्ध करते हैं बताएंगे तो ना कोई सिद्ध है ना असिद्ध है बताएंगे वहाँ में गया अभी गंगोत्री ने कोई सुना तो बताया किसी महात्मा से पूछ लिया कोई कुछ जानो ना हमें एक बार ऐसे हुआ था हम यहाँ गए बहुत दूर जाने का तो बर्फ में कोई कुछ नहीं दिखता है कहाँ किंतु बर्फ में पाद चिन्ह दिखता है तो पाद चिन्ह देकर वहाँ गए कुछ दूर जाने के बाद दूर से कहते कोई इधर नहीं आओ इधर नहीं आओ डांटते तो हम फिर थोड़ी देर बाद फिर गए जाने के बाद देखा कुछ आवाज शब्द कोई बात कर रहे हैं आवाज सुना या कोई फिर बाद में गया दो तीन है एक बैठे तो सास हुआ गए ऐसा गए तो देखा गया रूपा है रूपा के अंदर बैठा है और तो अंदर घुस के मना करते देखा तो अंदर तो सो सो सिद्ध बैठे हैं तपस्या में कर्म कर्म साल के पहले से ऐसे बैठे हैं बस ऐसे कुछ बोले फिर बाद में दांत फटकार किया घर चले जाओ ऐसे तो कुछ बात बनाएंगे फिर वहाँ रहा बस हमें छह महीना एक साल या गया दस साल रह गया कंध कुछ देते कंध खा करके और कुछ जरूरत नहीं होता ऐसे रहेगा समाज लगा दें क्या कैसे बताएंगे उसके बाद और कुछ कुछ ऐसे बताएंगे कोई चमत्कार दिखा दिया वहाँ से हमको नीचे ले लिया नीचे ले लिया तो वहाँ से वहाँ पहुँच गया कुबेर भवन धन संपत्ति जिसको रखा गया वो सब हमको दिखाया कि कोई यहाँ बताया था ऋषिकेश में कुबेर का धन संपत्ति यहीं कहीं थी एक सीधा बताया था उनके शिष्य लोग आए थे रचन थे कहाँ चले गए बताया कहाँ गए बोले में क्या करेंगे घर गया था थोड़े चिंतन किया कुबेर का दर्शन हुआ कुबेर से प्रार्थना की तो वो लेकर उनके संपत्ति तो ऋषिकेश में एक काम सब तो लेकर दिखाया उसके अंदर और वहाँ तो बहुत देर लगता दिखने के लिए किंतु वो लोग रोग कर वापस आ गया ऐसे ऐसे बात बना लेते हैं तो इसी प्रकार झूठे मुठे ऐसी कहानी से कोई बताते हम गए तो ऊपर और अमुक सिद्ध महापुरुष से बात हुई वहाँ कर सामने उपस्थित हो गई तो सब लोग सोचते हैं कुछ जीते थे ऐसे ऐसे बात कहते हैं ऐसे में कभी नहीं महत्व को विशेष करना झूठ मूठे से बहुत बोल देते हैं कुछ ना कुछ बोल देते हैं कुछ नहीं होता है ऐसे ऐसे चमत्कार बात बताते हैं लोग उनके पीछे सोचे बहुत बड़े सिद्ध है इनको यदि सिद्धों का दर्शन हुआ ये कोई सामान्य नहीं है ऐसे से कुछ करते तो ये संस्कार करने वाले करता है इस तरह से अपने इस तरह प्रकाश न करने के लिए कल्पना कर सकता है तो उसको परिहार करते प्रत्युष सप्त शास्त्र किम निमित्तम शास्त्र प्रकृत शस्त्र निमित्तम तो अयम अभिसंधि मंत्रायुर्वेदेशु तावत स्तर प्रणीतेशु प्रवृत्ति सामर्थ्या अर्थात व्यभिचार विनित्या प्रामाण्य सिद्धम न्याय सूत्र में न्याय शास्त्र में दर्शन मंत्रायुर्वेद तो प्रामाण्य वस्तु तत्प्रामाण्यम एक सूत्र है शास्त्र प्रमाण है केवल मानेंगे शास्त्र के ऊपर विकास क्यों करेंगे मुनि के द्वारा रचित शास्त्र ये प्रमाण है अथवा नहीं है विचार करने वाले का संशय हो पता है क्यों हम प्रमाण मानेंगे क्योंकि अन्य कुछ तो है जो नास्तिक है धर्म के विरुद्ध में कहने वाले वो भी शास्त्र लिखते लिखवाते अभी पंडितों को लाख लाख रुपया देकर कहेंगे लिखो ही छापा कोई रुपया दस बीस लाख रुपया मिल गया तो कुछ ना कुछ लिख देते हैं ऐसे अन्य अन्य धर्म वाले वेद निंदा करने वाले ग्रंथ अभी लिखते लिखवाते हैं जैसे शास्त्र होने से कैसे प्रमाण आएंगे इसके बारे कहा गया जो न्यूज द्वारा प्रणित शास्त्र ये आधिकारिक के द्वारा लेकिन नहीं मंत्र शास्त्र एक सूत्र न्याय सूत्र सुनवाया मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्य वर्ष तत्प्रामाण्य मंत्र आयुर्वेद शास्त्र जिस प्रकार प्रमाण है ऐसे के द्वारा रचित शास्त्र भी प्रमाण है अभी मंत्र शक्ति मंत्र के द्वारा तर्क सर्पादि विष निवृत्ति करा देते हैं कुछ रोग ठीक कर देते हैं कुछ मंत्र प्रयोग करके कर्ण साथ साधन करते मन की बात बताते थे बंधन कर देते सर्प है कुछ मंत्र प्रयोग करेंगे तो सर्प में रह जाएगा बंधन हो गया आगे दौड़ नहीं जा सकता ऐसा भी जानकारी जानते हैं तो सर्प आया तो घर में सब लोग डरेंगे सर्प होंगे और मंत्र कर देंगे तो सर्प यहीं क्यों रहेगा देखेंगे वही सर्प इधर उधर कुछ नहीं जा सकता है वही रह जाएगा बंधन हो गया मंत्र के द्वारा बंधन हो गया आगे पीछे नहीं जा सकता है ऐसा मंत्र प्राणायाम जो उन्होंने देखा है और दूसरा है आयुर्वेद आयुर्वेद शास्त्र में ये कोई जड़ी बूटी से जो औषध बनाने की प्रक्रिया अभी शुरू हुई कोई वैज्ञानिक लोगों ने शुरू किया डॉक्टर लोगों ने अथवा परीक्षा करके विचार करके निर्णय किया ये नहीं कितने प्रकार जड़ी बूटी के क्या भाग मात बना करके किस औषध बनाना है किस औषध से क्या कार्य एक ही द्रव्य का उपयोग बहुत औषधन होता है उसके साथ क्या मिलाना क्या कितने मिलाना ये सब कुछ अपने आप चिंतन करके अथवा परीक्षा करते करते अपने आप ठीक कर दिया ऐसा नहीं ये प्राचीन शास्त्र में है उसके अनुसार आयुर्वेद औषध बनाते हैं अभी अन्य बनाते शास्त्र पहले से है और इस ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी कभी आगे ग्रहण लगने वाला है कभी अमावस्या है कभी पूर्णिमा है ये ज्योतिष लोग जो बताते हैं ये वैज्ञानिकों से सीख करके नहीं ज्योतिष शास्त्र प्रक्रिया है उसके अनुसार बताते हैं अभी तो वैज्ञानिक लोगों ने बताया पहले तो ज्योतिष शास्त्र शास्त्रकार ने पहले निर्णय कर रखा ग्रंथ है इतने साल आगे तक पूर्णिमा कब अमावस्या कब है ग्रहण कब लगने वाला है ये सब पहले निर्णय कर रखा है तो ये तो शास्त्र के द्वारा हुआ वो जैसे प्रमाण हुआ इसी प्रकार ये जो मुनि के द्वारा परिणित शास्त्र और अभी कोई संस्कृत में लेके जाए तो शास्त्र नहीं होगा जो मंत्रायुर्वेदस्तु तावत ईश्वर सामर्थ्या ईश्वर के द्वारा प्रणित मंत्र आयुर्वेद आदि शास्त्र ये शिव पार्वती समाज में श्रीजी जी पार्वती को कहते हैं ये जो देखते हैं ना क्या कहते हैं इसको नारी है नारी देखते क्या हिंदी में नस देखते हैं नारी देखते हैं इसकी परेशानी और कभी इसे संवाद हुआ पार्वती जी कहते हमको कुछ कारण से कहते हमको बुखार है तो ये देखते हैं मेरे कैसे बुखार है ऐसा तो लगता में नहीं वो तो क्यों लक्षण नहीं क्या है तो प्रश्न करते हैं उत्तर देते हैं पूरा संवाद नारी के संवाद में प्रश्नोत्तर होकर के बहुत लक्षण आया जो आयुर्वेद का साथ ठीक ही जानते हैं तो आप कुछ बताने की जरूरत तो नहीं वो जाने पैसा देखेंगे देख करके रोग बता देंगे सब लिख देंगे तो इसे शास्त्र ईश्वर के द्वारा प्रणीत है किसी प्रकार मुनि के द्वारा आए है ईश्वर पर उपदेश किया उनसे किसको मालूम है उनको किसी किसी को फिर तो ईश्वर के द्वारा रचित शास्त्र में मंत्र आयुर्वेद आदि में प्रवृत्ति होती लोगों की और प्रवृत्ति होने से सामर्थ्य है फल प्राप्त होता है औषध सेवन करते रोग निवृत्ति होती है अर्था व्यभिचार विनिचार अर्थ के साथ व्यभिचार नहीं होता व्यभिचार ऐसे सेवन करने से हमको निवृत्ति होती है अभिव्यक्तियों का सेवन करते दोगुण बुद्धि होती है प्रामाण्य सिद्ध शास्त्र में प्रामाण्य सिद्ध है निश्चित है अच्छा ये कहेंगे ये इसमें ईश्वर प्रणी तो क्यों मानेंगे वो शास्त्र को प्रमाण क्यों मानेंगे ऐसे कोई औसत को लेकर के किसको किसके साथ मिला और किसको किसके साथ मिला से क्या हो जाता है ऐसे परीक्षा के औसत बना दिया ये संभव नहीं है न सर वो सभी वेदाना सतत संयोग विशेषा नाम च सतत वर्णावाप उद्धारेण पुरुषा से लौकिक प्रमाण व्यवहारी शक्त समर्थन लौकिक प्रमाण के व्यवहार करने वाले कोई कि कौशल में कितने मिलाना कितने काम करना संयोग विशेषाणाम क्या क्या मिलाना है मंत्र तो वर्ण ही है किस वर्ण का कैसे प्रयोग करने से तो सर्प बंधन हो जाएगा कुछ तो प्रयोग करेंगे इसे कार्य वर्ण अं-, अंदाज करके बोलते बोलते कोई मंत्र मतलब हो गया ये बोलो इसके बाद हमको बोलो उसके बाद हमको बोलो देखो कल सर्प बंधन होगा ऐसे करके भी मंत्र मतलब बन जाएगा ऐसा एक पुरुष आयु नहीं पुरुष आयु से प्रेरणा भी पुरुष आयु से हजार पुरुष आयु से पूरा उसमें लगे तो भी कोई मंत्र निश्चय कर देगा औसत सिद्ध कर देगा नहीं होगा लौकिक प्रमाण व्यवहार करने वाले समर्थ नहीं कर करने के लिए और कोई अन्य व्यक्ति कर गया इसको मिलाया क्या हुआ इसको निकाल दिया और क्या हुआ ऐसा भी नहीं कर सकते न तो आगमार अन्य को कोई आगम शब्द प्रमाण से अन्य व्यतिरिक अन्य होता है ये रहने के लिए कार्य होता है हमको नहीं रहने पर ये कार्य नहीं हुआ इसलिए इसके लिए कारण इस प्रकार सब कारण होने पर मिट्टी है तो घट बनेगा मिट्टी नहीं तो नहीं घट बनना इसे घट का कारण मिट्टी है निश्चय होता है ठीक इस प्रकार अमुक वस्तु डालने पर रोग की निवृत्ति हुई अमुक काम करने से रोग निवृत्ति नहीं हुई इसे इस रोग के लिए अमुक वस्तु इतने डालना है उसके साथ दूसरे वस्तु इतने डालना है ऐसे करते करते रोग निवृत्ति होती देख करके ऐसा निश्चय नहीं कर सकते कभी कभी तो औषधि की बिना रोग निवृत्त हो जाता है और अपने डाला कुछ मिलाया रोग निवृत्त हो गया सोचेंगे तो औषधि का रोग निवृत्त हुआ किससे निवृत्त हुआ निश्चय करना भी कठिन नहीं अंतर नहीं है तदवर्ण आवाज उद्धार में सहस्त्र आदि पुरुषा से नहीं कर सकता अन्य व्यतिरिक आगम से अन्य व्यतिरिक करेगा अन्य का आगम ये भी नहीं हो सकता है अन्य व्यतिरिक करके शब्द प्रमाण शास्त्र बना और शास्त्र को देख करके अन्य व्यक्ति करेंगे अरे ये लगातार प्रभाव चल रहा है अन्य व्यक्ति को आगम से साध्याम के आगम अन्य व्यक्ति व्यतिरिक तो आगम ऐसा मानेंगे तो पहला उसके पहले उसके पहले कैसे हुआ तो संतान और अनादिता ये प्रभाव अनादि इसी प्रकार प्रतिपादित नहीं सब तो प्रतिपादन नहीं कर सकते क्योंकि महाप्रवय जो हो जाएगा वो संतान भी नहीं रहेगा प्रवाह भी नष्ट हो जाएगा सत्वार अनिर्विच्छेदा जिस का सत्व है उसका अनय ये शास्त्र और उत्कर्ष दोनों का विच्छेद हो जाएगा शास्त्र उत्कर्ष विच्छेद हो जाएगा इस तरह सत्य गुण नहीं रहेगा सत्वाद अनय विच्छेदा इस तरह सकाकार इस तरह से अनय शास्त्र उत्कर्ष दोनों नष्ट हो जाएगा शास्त्र भी नहीं रहेगा शस्त्र का उत्कर्ष भी नहीं रहेगा अभी कहेंगे न तो तद्भावे प्रमाणाभाव प्रमाण नहीं था प्रलय हुए ऐसे में कोई प्रमाण नहीं है इसे नहीं कर सकते अच्छा दोनों का प्रलय काल में शास्त्र उत्कर्ष दोनों का विच्छेद हो जाता है इसमें कोई प्रमाण नहीं इसे नहीं कर सकते प्रमाण हम कहेंगे अभिनम प्रधान अधिकार ही जगत प्रतिता प्रतितादेश प्रधान का कार्य है जगत ये अभिनय जगत जो कार्य हो प्रधान कार्य कारण अभिनय मानते सांख्य योग के अंतर जैसे घट मृत है मृत रूप है इसी प्रकार जितने प्रधान का कार्य प्रधान का नहीं है ये दोनों जगत और प्रधान में कार्य कारण होने पर भी एक होता है जब विसदृश परिणाम होगा तो कार्य हो जाएगा सदृश परिणाम सामने अवस्था है कारण नहीं सदृश परिणाम से विसदृश परिणाम का दृष्टा कभी कभी प्रधान सदृश अवस्था में है तीन गुणों के सामने अवस्था विसदृश परिणाम से जगत बन गया जो सदृश परिणाम तीन गुण सामने अवस्था है उसे विसदृश परिणाम कैसे होगा तो कहते से दिखा गया जैसा क्षीर क्षीर इच्छुरसागर दधि गुड़ादिरूपम क्षीर दधि हो जाता है इच्छुर से गुड़ बन गया ये हो गया परिणाम होता है विसर्ग से परिणाम हुआ विसर्ग से परिणाम से पूर्व शब्द से परिणाम होता है तो चतुष्टा विलक्षण परिणाम से पूर्व शब्द से परिणाम ये भी दिखा गया मधुर विसर्ग से परिणाम तो हुआ लेकिन मधुर भी होता है तद यह प्रधान महद महद आदि को विशद से परिणाम में प्रधान का भी परिणाम हो सकता है परिणाम महत है बुद्धि बुद्धि से अहंकार अहंकार से तन्मात्रा आदि विशद से परिणाम हो जाएगा कदाचित सदृश से परिणाम हो जाएगा सदृश से परिणाम हो गया तो तीन लोगों की साम्यावस्था सत्र समान समान हो जाएंगे हो जाएगा तो प्रलय हो जाएगा शब्द से परिणाम से साम्यावस्था शब्द से परिणाम हो गया साम्यावस्था सत्य तो महाप्रलय महाप्रलय हो जाएगा इसी प्रकार जब प्रलय हो जाता है शास्त्र उत्कर्ष दोनों नहीं नहीं रहेगा इसलिए अन्य व्यक्ति को निश्चय करके शास्त्र उत्कर्ष ईश्वर माया इसलिए शास्त्र शास्त्र प्रमाण कर उत्कर्ष नित्य होगा ऐसा निश्चय नहीं कर सकते क्योंकि शास्त्र को प्रणय क्यों मानेंगे तस्मा मंत्रार्य प्रणयनाथ तावत भगवतो विगलित रजस्तम तया परिसर पद्यतमान बुद्धि सत्तम आश्चर्य ये मानना पड़ेगा मंत्रालय प्रणय जिस प्रकार है परमात्मा करते हैं तो भगवान में ऐसा है परिणाम ऐसा बुद्धि तत्व है मानना पड़ेगा कैसे बुद्धि करते है विगलित रजत तम थे रजगुण तमगुण रूप मल ये सत्वगुण के आवरण रूप है ये आवरण विगलित हो गया नष्ट हो गया आवरण नहीं तो शुद्ध सत्वगुण है परित सद्वतमान प्रकाशमान है परित सब प्रकाशमान अत्यत्य प्रकाशमान जो आवरण नष्ट हो जाता है सत्वगुण बुद्धि में बुद्धि रूप से परिणत है सत्वगुण उसमें रजोगुण तनुगुण उसको ढाकने वाले महिला जैसे आवरण जैसे ये मल रूप आवरण जो नष्ट हो जाता है प्रकाशमान हो जाता है ऐसे बुद्धि सत्य ईश्वर का मानना पड़ेगा नहीं तो मंत्र आयुर्वेद तो जो प्रमाण कैसे हुआ ये मानना पड़ेगा तथा अभ्युदय निश्चय उपदेश सर्वरूपी वेद राशि इस तरह पर्यत तद बुद्धि सत्य प्रकाश आदि में रहती इसलिए धर्म और ज्ञान प्रतिपादन करने के लिए वेद संभव अभ्युदय निश्चय से उपदेश पर अभ्युदय सर्गादि सुख के लिए निश्चय से मुख्य उसका साधन उपदेश करने के लिए वेद राशि वेद सब तो वेद वाक्य समूह तो ईश्वर प्रणीत ईश्वर के द्वारा रचित है ये मानते ईश्वर के द्वारा रचित है मीमांसा में कहते इस वेद नित्य शब्द को नित्य कहते हैं वेदांत कहते ये वेद नित्य नहीं है में उत्पत्ति हुई प्रलय काल तक रहेगा ऐसा वेद को मानते हैं तार्किक लोग कहते वेद तो शब्द है शब्द तो प्रथम क्षण उत्पन्न होगा द्वितीय क्षण रहेगा तृतीय क्षण नष्ट हो जाएगा क्षण है इसलिए वेद भी क्षणिक कहते हैं मीमांसक लोग व्याकरण लोग कहते शब्द वेद नित्य है उसकी उत्पत्ति नहीं नाश भी नहीं और प्रलय काल में नष्ट हो जाएगा ये भी बात नहीं प्रलय मानते नहीं मानते लोग प्रलय हुआ नहीं तो वेद को नित्य मानते हैं वेदांत लोग उसमें जैसे तार्किक लोग को अनित्य कहते हैं तृतीय में वेद नष्ट हो जाएगा क्योंकि शब्द है इसे नहीं मानते हैं ना कि ना भी मीमांसक व्याकरण जैसे मानते शब्द नित्य है ये भी नहीं मानते वेदांत में तो एक ब्रह्म ही नित्य है और उससे अतिरिक्त शब्द नित्य कैसे होगा फिर भी जैसे सृष्टि काल में आकाश आदि की उत्पत्ति हुई प्रलय काल तक आकाश रहेगा इसी प्रकार सृष्टि के प्रारंभ अवस्था में वेद की उत्पत्ति हुई उत्पादित हुआ वो शब्द रहेगा प्रलय काल तक इसी प्रकार नित्य कहते हैं ये मानते वेद की उत्पत्ति वेद का उपदेश वेद की रचना इस तरह करते हैं वेदांत करते तो रचना नहीं जैसे पूर्व कल्प में वेद था ऐसे भगवान उपदेश करते हैं ब्रह्मा जी को इसलिए उत्पत्ति रचित नहीं और जो रचित मानते हैं वो भी अपने बुद्धि से रचित कोई कहते कोई कहते जैसे था इस रचना है ऐसे ही कहेंगे तो रचना नहीं है तो ये लोग कहते उनके द्वारा रचित है शास्त्र वेदराशि ईश्वर प्रणित है ईश्वर के द्वारा रचित है तद बुद्धि सत्य प्रकर साधे भविष्य महर्षि ईश्वर में बुद्धि सत्य बुद्धि रूप से प्रणित सत्व गुण का प्रकट है रजगुण तमगुण का अभाव होने से सत्व गुण प्रकट है तो प्रकाश माने ऐसा होने से ईश्वर के द्वारा प्रणित होता है वेद आदि शास्त्र न तो उत्कर्ष रजस्तम प्रभव विभ्रम विप्रलंब संभवत भ्रम और विप्रलंब लौकिक वाक्य में जो लोक है कोई कुछ कहता है उसमें संशय होता है ये सम्मान है अथवा नहीं कोई कहा कुछ तुरंत होता है आपको कैसे पता चला आपने देखा है ठीक से ठीक कर दिखाया है बहुत बड़ा तर्क देखा है तो ठीक दिखाया नहीं तो कहा ठीक दिखाया ठीक दिखाया नहीं पर उसको भ्रांति हुई अथवा नहीं एक संशय अच्छा भ्रांति न होने पर विचार करते पता नहीं ये क्या चाहता है ये ठगना चाहता है सच बोलता है कभी कभी कोई लोग ठगने के लिए झूठ बोल देते हैं झूठ कुछ बोल देते हैं तो ऐसे तो दो प्रकार दोष लौकिक वाक्य में ये संभावित है एक भ्रांति भ्रम अर्थ भी प्रलम्ब दूसरे को ठगना वो जगह नहीं बैठने के लिए कम जगह है तुरंत आगे कहा तुम्हारे गुरु जी बुला गए जब को चला गया ये वहाँ बैठ गया वहां जाकर देखा है तुम गुरु जी बोलने तुम्हें नहीं बोला और जब देखा है तो बैठ गए ऐसे ही कभी इसकी तो सामान्य है ऐसे ही झूठ बोलने के लिए कोई बता देते झूठ मोट बोल देते हैं दूसरे को बिना प्रयोजन से बोल देंगे और आगे बोले वहाँ बहुत वहाँ हिमालय में बर्फ गिर गया और कोई एक ब्रह्मचर्य आया था बोला बर्फ गिर गया तो दो घड़ा और घड़ा चलने वाला समर तो गया हमारा तो सामान चला गया कहाँ से कुछ सामान लेकर गया था और देना नहीं पड़ेगा क्योंकि <laughs> हमारा सामान दो तो अकेले कर गया क्या वहाँ बर्फ तो कैसे गिर गया तो घोड़े वाले मर गए हमारा सामान चला गया घोड़े भी मर गए उससे कौन मर गया बोला हमारा सामान चला गया मर गया कौन बोलो अरे घोड़े घोड़े मर गए घोड़े वाले तो मरे तो ना घोड़े वाले गए हमारा समझ चला गया अरे मरे कल तो फिर बाद में क्या घोड़े मर गए घोड़े वाले मर गए हमारा सामान चला गया सामान चला गया उसको बार बार करता है फिर चहरा कर करके और उसके विषय मालूम है थोड़ा मिथ्या वासना करने बड़े प्रवीण है बुद्धिमान है तो निश्चय <laughs> हो गया ये सामान कहीं कैसे लिया था और सामान देने का दुश्मन नहीं गए मर गए तो सामान चला गया कई तो कैसे कोई कोई कुछ कहते हैं वहां गए थे हाँ बहुत बड़े बर्फ गिर गया उसके नीचे ऐसा हो गया वहां से ऐसे निकला कुछ ना कुछ बोले सब लोग सुनेंगे और नेता बन गए बोलेंगे इससे कुछ नहीं और बाद में दूसरे को बोलेंगे या करके हमने इसे से कहा मेरे बेटी लोग सबसे कम से सुन रहे मतलब <laughs> हम झूठ बोलते हैं तो ये लोग सबसे कम रहते हैं अर्थात बुद्धि नहीं लोग हम झूठ बोलने के बाद ये लोग सुन रहे खुद दूसरे झूठ बोल दिया लोग सुन रहे थे इसमें कुछ है ऐसा दूसरों का स्वभाव है झूठ में लौकिक वाक्य में संशय होता है किंतु जो सत्वगुण अधिक है ईश्वर है उसमें विभ्रम विक्रम लंब न संभव होता विभ्रम विक्रम लंब कहाँ होता है तमगुण है तो भ्रम होगा और रजगुण है तो विक्रम करने होगा रजगुण से काम को तो लोग होता है करने की इच्छा होती समय से भ्रम भ्रम होगा रजतम प्रभव मित्र विप्रलंबो न संभवत सत्य उत्कृष्ट होने पर रजगुण से जो भगने की इच्छा समुगुण से की ये दोनों संभव नहीं इसे सिद्ध होता है तत्सिद्धम प्रकृष्ट सप्त निमितम शास्त्र ये शास्त्र है रचित है ईश्वर के प्रकृष्ट सत्व अत्यधिक सत्व गुण के कारण शास्त्र रचित है इसलिए प्रमाण है एक शंका कर दे त्याग ये ऐसा माने ऐसा हो प्रकृत कार्यतया प्रकृतम बोधय शास्त्र अनुमान भवे न तो आगम अभी प्रकृत सत्वगुण का कार्य होने के कारण प्रकृतम बोधे का पात्र प्रकृत को बोधन कराए प्रकृत तत्व का कार्य वन्नी का कार्य धूम धूम किसको ज्ञान कराता है किसका ज्ञान कराएगा वन्नी का कार्य से कारण का अनुमान होता है यदि प्रकृष्ट गुण का कार्य है शास्त्र तो शास्त्र क्या करेगा उसके कारण को बोधन कराएगा कारण है प्रकृष्ट सत्व शास्त्र से नित्य हो जाएगा प्रकृष्ट सत्व प्रकृतम शास्त्र बोधे ऐसा बोधन कराता हुआ क्या होगा शास्त्र तो अनुमान हो गया शेषवत अनुमान पूर्वगत शेषवत ऐसे अनुमान ऐसे अन्य व्यतिरिक्त होता है कारण से कार्य तो कार्य से कारण से होता है कार्य से कारण का अनुमान होगा न तो आगम तो शास्त्र को आगम प्रमाण नहीं हुआ शास्त्र से ये निश्चय हो जाएगा शास्त्र रचना करने वाले में अत्यधिक सत्य गुण था इतने निश्चय हो जाएगा इस तरह एक हो शास्त्रोत्कर्तव्य ईश्वर सत्य वर्तमान और अनादि संबंध शास्त्र और वो सत्वगुण का उत्कर्ष ये दोनों ईश्वर के साथ दोनों का संबंध ईश्वर सत्य वर्तमान हो ईश्वर में ईश्वर सत्व का तो ईश्वर के सत्वगुण में सत्वगुण से सत्वगुण का कार्य चित्त में ईश्वर के चित्त रूप सत्व में शास्त्र उत्कर्ष दोनों का संबंध है अनादि संबंध है उत्कर्ष होने से शास्त्र शास्त्र प्रमाण से उत्कर्ष होगा ये ऐसा मानेंगे न कार्य स्वयं शास्त्र ईश्वर के गुण को शास्त्र का कार्य होने के कारण कार्य स्वयं उसको बोले ज्ञान कराता है ऐसा नहीं इसीलिए कार्य स्वयं यदि बोधन कराता तो अनुमान होता अपितु अनादिवाच्यवाचक भाव संबंध नहीं बोलते शब्द के साथ अर्थ का संबंध है शब्द होता है वाचक अर्थ होता है वाक्य शब्द अर्थ का के संबंध है का संबंध ये जो वाच्यवाचक भाव संबंध है ये जो अनादि कोई नया नहीं बनाया ऐसे पूर्व कल्प में भी ऐसे था वेदांत मानते हैं और ये तो कहते शब्द अर्थ का संबंध अनादि संबंध है इसलिए शब्द से अर्थ का बोध होता है नहीं कि अनुमान शास्त्र से तत्व का अनुमान हो सकता है अलग बात है किन्तु शास्त्र शब्द है शब्द का अर्थ के साथ संबंध अनाज संबंध है इसे आगम प्रमाण का अर्थ का बोध होता है तो शास्त्र के द्वारा इस तरह के प्रकृत शब्द का ज्ञान होता है इस तरह से बुद्धि सत्य प्रकृत वर्तते शास्त्र भी तद वादक वर्तती ईश्वर का बुद्धि तत्व में प्रकट है उसका बोधक होता है शास्त्र ईश्वर में जो बुद्धि है बुद्धि रूप से परिणत तत्व है उसमें प्रकट है अधिक है रजगुण तमुण नहीं है और उसका भाषक होता है शास्त्र उसका प्रतिपादक होता है शास्त्र शास्त्र प्रतिपादक होते शास्त्र में तद तदवाचक शास्त्र प्रकृत सत्व का वाचक रूप से ईश्वर में है वाचक शास्त्र है तत्र वसद इससे उपसंहरती एक तस्मात सदैव ईश्वर सदैव मुक्त सदा ही ईश्वर है सदा ही मुक्त ईश्वर ठीक है मैं एक तस्मात एक तस्मात का ईश्वर बुद्धि सत्य प्रकृतवाच का शास्त्रार्थ ईश्वर के बुद्धि तत्व में प्रकट उसका भाषक उसका प्रतिपादक कथन करने वाले शास्त्र इसे शास्त्र से ये निश्चय होता है एक शास्त्र से ये निश्चय होता है एक भगवती एक भगवती का अर्थ क्या है एक ज्ञाते एक भगवती का एक ज्ञाते कैसे होगा एक भगवती एक ज्ञाते ज्ञान कैसे होगा ज्ञान और अर्थ अर्थ होता है विषय ज्ञान होता है विषय एतद भगवती का अर्थ विषय कुछ उत्पन्न होता है विषय होता है कहीं कहीं विषय न लक्षणा विषय शब्द से विषय ले लेते हैं विषय शब्द से विषय धूम से वन निश्चय हो गया कहते हैं नहीं पर्वत में वन हो गया किस लिए धूम से धूम से वन निश्चय हो जाएगा भ्रूण है आपने नहीं देखा तो बल निश्चय हो जाएगा क्यों क्यों ढूंढते से बल निश्चय क्यों नहीं हुआ धूम जोर से निकल रहा है धूम से यदि बल निश्चय हो जाए धूम के ज्ञान के बिना बल निश्चय हो जाना चाहिए धूम को नहीं देखने पर बल निश्चय हो जाता है क्या धूम क्या है धूम ज्ञान से है तो ज्ञान तो धूम से बंद निश्चय हुआ धूम से बल निश्चय नहीं हुआ धूम के ज्ञान होने पर ध्वनि का ज्ञान हुआ धूम का ज्ञान यदि आपको है नहीं तो पर्वत वन ज्ञान हो जाएगा धूम रहेगा पर्वत आपको ज्ञान नहीं होगा धूम का तो धूम रहता है क्या क्या नहीं रहेगा आपको नहीं देखेगा तो धूम रहेगा पर्वत है तो वन निष्ठ हो जाएगा इसे धूम तो वन निष्ठ नहीं हुआ किसे हुआ धूम ज्ञान से कहना चाहिए तो भी धूम से वन निष्ठ कहा जाता है ये कहते विषय वाचक शब्द से विषय की लक्षणा होती है धूम है विषय धूम से कहा तो धूम ज्ञान से विषय विषय का विषय का बोधक होता है ज्ञान इस प्रकार एक भगवती का तो एक ज्ञाते विषय न विषय न रक्षणा विषय के द्वारा विषय की लक्षणा होती है ज्ञान का इसे एक भौतिका का एक ज्ञाते एक भौतिका तो एक ज्ञाते निश्चय होता है क्या निश्चय होता है सदैव इतर सदैव निश्चय सदैव इतर सदैव निश्चय सदैव पुरुषांतरादि व्यवस्थित ईश्वरांतरादि व्यवस्थित नती अन्य पुरुष में ऐसा नहीं कोई सदैव मुक्त नहीं है जीव कोई भी जीव सदा मुक्त नहीं है सदा ईश्वर नहीं है इसलिए पुरुषांतराद व्यवस्थित क्या ईश्वरांतराद व्यवस्थित कोई दूसरा ईश्वर नहीं है उठे सत्य सत्यतर साम्यापित विनिर्मुक्तम ईश्वर में जो ऐश्वर्य है उसके समान भी कोई नहीं उसका अधिक भी कोई नहीं इसमें भी कहेंगे ईश्वर पुरुष विशेष ईश्वर जीव से विलक्षण है और एक ईश्वर है अन्य और ईश्वर नहीं है इसलिए कहेंगे ईश्वर में जो ऐश्वर्य है उसके समान भी नहीं अतिशय नहीं है तब एक ईश्वर किसा होगा ओ